पवित्र श्रीमद् भागवत गीता पवित्र चारों वेद पवित्र कुरान शरीफ पवित्र बाइबल पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन दौरा पड़ गया सिर पर बरोटा चालीस पैंतालीस किलो का और डोले पर तो पांच साल उसका पड़ी बरोटा भी उपरे मैं भी नो की नो कुल्ली उतर टूट गई कुल्ली की हड्डी फ्रैक्चर होगी और समाई जब उठा दाना बैठा था और उठा के गाड़ी में डाल के लाए घर पर प्लस्तर करवाया प्लस्तर हो गया फिर दोबारा एक्सरे करवाया तो डॉक्टर बोले ठीक हो जाए जुड़ी तेरी हड्डी तो टेढ़ी जुड़ गई और कुल्ली की हड्डी या सूत में कोई ना फिर ऑपरेशन बनो करना पड़ेगा जो जी ऑपरेशन कराऊं क्या का पैंतीस हजार रुपये मांगे तीस हजार रुपये नहीं दो रहा कोई ना और पति देव शराबी मैं बोली इतनी रोई में बैठ गई परमात्मा इसका अच्छा था ठा लेता था तो बढ़िया मैंने पहले दौरे का संकट और ऊपर तेरा डी ड्यूटी मेरे जैसी भी नीच औरत नहीं होगी मालिक के जुलम किए थे इसे मैंने और कर्म तो अपने हैं क्यों अपने कर्म कोसने पड़े ने बोले जी अगले दिन मदाना गांव के हमारे घने नाम ले रहे भगतन वो एक बहन आ गई कुदरती आ गई नो तो लिया नाम लेके देख ले तेरा कि मैं हड़का हो जा बोझ आगे क्या का नाम लो बता मत तो। चल जाना उठा जा प्लस्तर हो रहा है इसके उस ये मेरे पास लेकर आया इसको मैंने इसको बताया बे तू के, के दो क्या कर पहले नो बता और पंडिता के घर लड़की है वो सारे कराया करें तो उनसे लटोटर जाने हैं ये माता भी धोखा अठम भी मनावे श्राद्ध भी काटे कनागत भी गैस की व्रत भी रहूं और सारे करो वही कमोई करवा चौथ राम और कृष्ण सारे पूजा दिशा हमारा बनाए फिर बे संकट ना कटे तेरे अगली के बतावा फिर ये तो कर्म का दंड से और कर्म दंड ना कबीर भगवान काटे वे वे तो नाम ले ले इस बंदी छोड़ का अगली ले लूंगी ये दो कुछ नहीं करनी कहते फिर मत बेरी पहुंचा ठागा लोटा ना कति नहीं जाऊं कति नहीं जाऊं जी मतलब देखो भी कोई ना जय मेरे घर में सुख हो गया इसने नाम लिया ढाई साल हो गए इसको उसके बाद ना तो दौरा पड़ा अरे बोली पंद्रह दिन पाछे ऑपरेशन तो डर भी लग गए आप प्लस्तर काट दिया जाती गे और यह लड़की ने तुम देखो तो इसका लंग भी नहीं है पैर में परोटे डोगने चालीस चालीस मन के किलो के जो ना मन मन का परोठा लेती हूँ या बहन और ढाई साल हो गए कोई दौरा नहीं पड़ता अन्य बोली जो पाँच मन तब धो कर पूज रो देवता थू के भी कोई ना ना श्राद्ध का दे सासू लड़ लड़ मर गई मरे जाते तो। जब मैं तो पाक थी जब खुद गए थे तेरे कना कर लिया श्राद्ध उठा जाता ना बैठा जाता इतनी इतनी देरी आ ली जब इसी ठिकाना मिला मिलानो ना श्राद्ध तो काटने पड़ेंगे कौन काटो फूकने तेरे श्राद्ध ने तो बोली मैं खूब लड़ी इसके अब न्यो ना माने उरा जी खुशी का तो कोई ना मानता हमारी बात ने कबीर भगवान था अब इस कबीर भगवान के पास दंड काटने की शक्ति है वो ब्रह्मा जी द्वारा कोई ना विष्णु जी द्वारा कोई ना सुख देंगे आपको जिसे कर्म कर रहे हो पर यह संकट नहीं बैठ सकते वह ये कर, ये कड़वी लग गए बता पर तो विष्णु जी ने भी बेसरा बेसरा क्या दिया हमने बताओ भाई ये तो शास्त्रों में लिख रखा है कर्मदंड नहीं काट सकते और जब <clears throat> बाली मारा त्रेता युग में और बैकुंठ फिर दो प्रयोग में कृष्ण बनकर बदला दिया कटे कहा उन पर एक समय की बात है अजय विजय नाम के दो पौलिया थे भगवान विष्णु के अजय विजय और पौलिया भी कहा थे जो अपने रहने घर पर उनके स्वर्ग के अंदर रेजिडेंशियल प्लेस है उनका अपना जो रेणा मकान होता है दरबार दरबार न्यारा हुसैन भगवानों का रेणा मकान न्यारा उसमें लक्ष्मी जी और ये रहते हैं तो वहां पर फेथफुल देवताओं की ड्यूटी लगाई जाती है दो देवता जय और विजय नाम के उनके पैरे पकड़े उनको कह रहा क्या मेरे पूछे बिना इस घर में कोई प्रवेश ना कराए सनक सनंदन आ गए <clears throat> सनक आदिक तीन चारों भाई उनकी आयु पांच पांच साल की है वे पांच वर्ष की आयु में ही रहते हैं उनका इतना ही उम्र रहती है पांच वर्ष जितने बच्चे का शरीर होता है उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से वरदान मांग कर इतना ही शरीर रख रखा है कि जवान होंगे तो विकार होंगे विकार होंगे तब भक्ति बिगड़ेगी इस आधार पर उन्होंने पांच वर्ष की आयु मांग रखी है एक दिन वो विष्णु के रहने घर में जान लग रहे और अगर वो पोलिया खड़े पहरेदार इसलिए लगाए जाते हैं वो अपने कर्म को पूरा करें ड्यूटी निभावे उन रोक दिए कहा जा रहे हो भाई महाराज जी बैठो कहने लगे भाई हम विष्णु जी के पास जाते हैं नो बोला जी तुम नो नहीं जाना आप ऐसे नहीं जा सकते पहले हम भगवान से पूछेंगे वो आदेश देंगे तो हम भीतर ले जाओगे कहने लगा हमारे लिए सब पाबंदी छुट्टी है हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है आगे जान लागे इसने बोले खबरदार जाके गए थे वापस हो लो अब देखो ये फर्ज बने उनका तो कहना भी फर्ज फर्ज बने था कि नहीं जी नहीं जा सकते आप फिर हम किस लिए खड़े कर रखे जब तुम ऐसे मुंह उठा के जाओगे तो कहने का भाव ने श्राप दे दिया सनक सनकादिक ने कि तुम राक्षस की जोनी तीन तीन जन्म राक्षस बनोगे या कोई बात हुई दे दिया क्योंकि उनके हाथ में तलवार थी वह शब्द सिद्धि कर रखी थी नरेंद्र के जाप तो भाई फिर वो वो लगे रोन बेचारे तक, तकलीफ आई भाई तो बात बिगाड़ दी ना शराब दे दिया अन्य बेरा था शराब दे दे वो बुंडा काम बने विष्णु जी के पास गया एक जना एक नरो रोके रखा जाके कहने लगे भाई कैसे आए महाराज जी पांच चार भगत संत आए हैं सनकादिक और हमने उनको आने नहीं दिया उनने हमें श्राप दे दिया उन्होंने सोची थी विष्णु जी तो सर्वशक्तिमान है और दंते हमारे श्राप ने काट देंगे तनु तो बोला रतन ने चाला कर दिया तो <clears throat> विष्णु जी खुद उठ आया सनकादिक को आदर से अंदर ले गया और वो दोनों पोलिया बुला लिए ने बोला भाई इनके इसके पैर पकड़ो इनके ये माफ करेंगे करेंगे तय हम शराप नहीं काट सकते इनका अब ये विचार करना इस शास्त्र में लिखे हुए हैं उन्होंने सोचा मैं वैसे कहूं ये सुख सागर में और विष्णु प्राण में दोनों में उपलब्ध है तो जी क्या करें अब दोनों ने बोले पैर पकड़ो इनके ये माफी दें तो माफी है ना मेरे बस का कोने तो बोला भाई माफ तो हम करा को नहीं तो हमने कर दिया जो करना था ये शराब टड़ा को नहीं पर एक काम हो जाएगा ये हमारा फिर कब छुटकारा होगा ये तीन जन्म राक्षस के पाओगे तीनों जन्मों में तुम्हें विष्णु मारेगा और जब तुम वापस देवता बन आओगे अब यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि ये फिर कारण क्या था कि विष्णु जी अपने पौलिया के पहरेदार जो रखे हुए थे इसी उद्देश्य के लिए किसी ने अन्न दे और फिर उनके धक्का करे कोई और फिर वो शराब दे दे और विष्णु जी तो कटे कोई ना फिर क्यों खड़े कर रखे थे वहां पर वो क्या है के लिए फिर सर्वशक्तिमान कहा रहेंगे वह तो यहां गरीबदास जी कबीर साहब फैसला देते हैं जैसे एसपी होता है पुलिस कमिश्नर कहते हैं यहां पर दिल्ली में हरियाणा में एसपी कहते हैं जो कि जिले का सुप्रीम पावर होती है पुलिस की तो पुलिस एसपी आगे पहरेदार खड़ा करता है गनमैन अपना एक और उसको हुक्म होता है उसके रहने मकान पर भी ऐसे ही होता है और उसको हुक्म देता है कि मेरे पूछे बिना अंदर मतान देना किसी को और उधर से मुख्यमंत्री का कोई नुमाइंदा और आ जाता है और उसने वो रोकते हैं और वो कहता हट जाए एक तरफ मामला कोना ना क्या करता हम नहीं रोकया करते एस पी थे और वो ने हम जान क्यों उसकी तो ड्यूटी बेचारे की और उसने आगे नहीं जान दिया आगे जाकर देख ले खैर नहीं से अपना उल्टा वाले एस उसी समय वो वापस गया और जाते उसके सस्पेंड ऑर्डर करवा दिए उस गन में इनके जो एसपी का था और एसपी को बुला लिया वहीं पर अब वो रोया फिर एसपी के पास जाके एसपी कहने लगा भाई क्या हो गया जोर नहीं आया था मैंने मना कर दिया उसने मुझे सस्पेंड कर दिया जी भाई मेरे बस का कोई ना उसने करवा दिया सस्पेंड कर दिया था गुस्से के पैर पकड़े ओए माफ करेगा अब एसपी शक्तिमान था पर पूरा नहीं था उससे ऊपर की शक्ति का और आ गया एक नुमाइंदा इसी प्रकार ये है जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नरेंद्र के उपासक हैं और सनक सनंदन भी उस नरेंद्र के उपासक हैं अब नरेंद्र की शक्ति भी उनमें है और उनकी भी उनमें है तो उसने जो उसकी अप्रोच है सनक सनंदन की वो विष्णु जी की भी नहीं है इतनी तो उनको वो नहीं काट सके फिर क्या हुआ जी मेरे को सस्पेंड से बहाल कब करोगे कि ये एस पी ए करेगा इसको आदेश देंगे तीन महीना के बाद और ये अपने हाथ से तुमने रीइंस्टेट करेगा अब इसी प्रकार ये शक्ति बताई कबीर साहब ने कि अजय विजय थे पौलिया विष्णु पौल दरबान और बिना विचार राक्षस बहे और बहुत कलंक है मान इन बातों से पता चलेगा कि समर्थता क्या होती है भगवान किसे कहते हैं तो परमात्मा की परिभाषा का तात्पर्य यह है कि तुम कौन राम का जपते जापम अर्थात मिटे ना तीनों तापम अब कई भाई ऐसे हैं जिन पर डॉक्टर भी फेल और शरणे भी फेल शरण भी समाधान कर देते हैं छोटे मोटे कोई भाई भूत प्रेत हो लेकिन जिन तक देवता रुष्ट हो जा जिनके ऊपर देव प्रकोप हो जा किसी के ऊपर श्राप हो जा उनको वो शरण के बस के कौन है और ना ही वो ब्रह्मा विष्णु में इसके बस के क्योंकि ये देवता तो थे प्रसन्न सनंदन नारद जी ये भी तो देवता है इनके श्राप स्वयं नहीं काट पाए भगवान विष्णु भी शिव भी लेकिन कबीर साहब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे संत तय तो कर दिया अब ये उदाहरण मैंने इसलिए देने पड़ रहे हैं कि अपने भगवान की समर्था का मैं पूर्ण प्रमाण दे दूं किसी को जचे उसका भला ना जचे तो उसकी मौज लेकिन अवश्य जचेगी ये महाभारत रामायण मारा क्यों जचगी क्यों जरूर से ज्यादा सुन रखी है कृष्ण भगवान की लीला क्यों जचगी क्या खूब बार सुन रखी बिना गिनती की तो वापस स्वीकार्य होगी अब ये लड़की है लेना भाई फोटो ही पे पेगा भगतमती यशवंती पत्नी श्री सुरेश गांव डिगदुल पाना गंजा और वो सुरेश भगत जी यही है उठिए बाइक में इसका ले फोटो उड़े थे ऑफ रखे बेटे ऑन रखा कर इसको अब ये सामने भगत सुरेश है ये डिगल के रहने वाले हैं सुरेश के पिताजी का क्या नाम है प्रताप सिंह ये देखे श्रीपशाला गौतम ने एक नंबर का एंडी था इतनी दारू पिया करता उस पान्ने में पूछा जाकर कतियोद मस्तारा करता दारू पी के और इस छोरी की कालत मैं बताऊंगा तुमने बैठ जा रहा और ये लड़की यशवंती नाम है इस बेबे का जाड़ो जा, बापड़ोदे की लड़की है कल उसका भाई भी आया हुआ था सत सुखबीर इसका एक भाई इंस्पेक्टर पुलिस हरियाणा में राजेंद्र राठी कहने का भाव यह है कि सुखबीर ने नाम ले लिया इसके भाई ने डीटीसी में नौकरी करता है और इस लड़की के दौरे पड़े जाड़ बच जाए कित गिर जाए और इसे दुख में इसी में इसका एक भाई मर गया था जवान भाई इतना तगड़ा लड़का पुलिस में भर्ती था इस रोग में वो भी मर गया मर चुका था सारा इलाज करवा लिया था सैना पर भी वैद्यों पर भी डॉक्टरों का भी और बालाजी का तो गोरा बना रखा था लेकिन कितने समय मर मर इसी प्रकार इस लड़की का हो गया वो ये तकलीफ ये भी कई साल तक भुगत रही थी सारे डाली बालाजी भी ले गए और इसने सुखबीर ने नाम ले लिया था एक साल पहले आगे भाई सुखबीर ने नाम ले लिया था लेकिन बाकी परिवार मानना कोई ना इस सुखबीर इसके भाई ने कहा कि तुम बहन को एक बार हमारे गुरुजिया द्वारा ले चलो या ठीक हो जाएंगी फिर वो शरत बतावा कि माता धोखनी छोड़नी हाँ, बाबा हरिदास छोड़ना और भाई कनागत नहीं काटने या सांप सा लड़ाई हाई ये छोड़ने पड़ेंगे जब इनमें पूजते पूजते संकट ने उगाने और इंधन पूज जाए तो फिर वो पूजा इसलिए करते हैं ना घर में वह सुख समाधान हो है लेकिन ना पूजने जरूर चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या हुआ एक साल तक नहीं मानी उस लड़के की सुखबीर की इसके भाई ने भी ना इसकी घर क्या ने और यू सोजी में था ना सुरेश बेचारा पीवा था तड़के सांस थी टन रहा था सूचा उठने लग गया था पीण और उस छोरी के जी ने दो दो अपना शरीर में इतनी भार संकट रूप पर तो पति पीवे दारू बता कर में के कसर थी वो विचार करे तो देखे तो जी कहने का भाव ये है जब वो सारा हैंड लिया ना जब नो लिया कि छोरी मरेगी जीव को ना उस दिन फिर इसने सुखबीर ने कहा भाई एक बार मेरी बात मान लो तुम मैं इस बहन ने नाम दिवाऊंगा और नाम नहीं सब ऊंडा मान रहे हम लोग नाम तो वो लेता है जो साठ साल तो ऊपर तो औरत हो ले लोग नाम जोगी के हो ही सया नाम जोगी जब होगी जब जाड़ दांत ना रहेंगे इसके आख्या तो दिखा कोई ना भाई बचपन का नाम ले बच्चे का साथी हुआ नाम सदा के लिए तो मजबूरी में सभी करती दीख ले भाई ले जाता है ना तो नाम दुआ करा जी तो थे कोई ना ये नाम इतना कड़वा लागे सर जो कि सबसे उत्तम समाधान इसका जीव का जब इस लड़की को लेकर आए तो पंजाब खोड़ में भगत जगदीश सन्नो पर बुराम ओ बैठा तुम भी आजा तेरा फोटो लाएंगे इसका ले फोटो भाई बंद ना करा कर तो इसको घुमावा तो बंद होगी स्टील है ये भक्त जगदीश पंजाब खोड़ गांव पंजाब खोड़ है दिल्ली सूबे में इधर औचंदी बॉर्डर के पास है इनके घर पर पाठ चल रहा है शाम के समय इस लड़की ने उसका भाई सुखबीर लेकर आया बस भाई इसका भाई सुखबीर शाम के समय यशवंती को वहां लेकर आया उसी दिन एक क्या नाम है कुलासी गांव की लड़की रघबीर मास्टर की परवीन नाम प्लस वन में पढ़ रहा है सोलह सत्रह साल की उम्र छोरी की आख्या तो दिखना बंद बा मड़ रहे कति चला नहीं जा इलाज करवा रखा तीन साल तो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट और फिर भी अगर फर्क रहा तो सारी उम्र खानी पड़ेगी दवाई ना जीवा कोई ना सॉरी उस लड़की ने भी मारे वहां सेवक है कुलासी में मुश्किल था तो किन खड़े उसको समझा कर उसके पिता और माता ने कहा मारे तो धोने की पूजा से वह कोई ना छूटे चाहे लो धोने की पूजा ने घर पर थोड़ी आंधी हुई बैठी है? अर्ध तो यहाँ सुख हो जाता तो दूनाड़ा अच्छा कि यो भगवान कबीर साहब बढ़िया जिसते नाम में लड़ते पांडा छूटे सारे सुख मिटे चौरासी मिटे वो मुश्किल तो समझाए कह तो वो काफी दिन से रहे थे पर उस दिन अंत आ लिया वो मानेंगे अपने ट्रैक्टर में बिठा कर भगत राज सिंह वो भी एक नंबर का शराबी राबी था उसने भी नाम बंदी छोड़कर लेकर फिर और समझाता अंडा फिर वह नाम ले लिया वह ले आए जी वह लड़की उस समय लाए ठाक उतारी नीचे ने अंदर बैठाई और उधर से आशवंती आई संगत सारी आई रही थी हमारी सत्संग किया सत्संग के बाद ने बोले जी ऐसे ऐसे नाम दिलाना है नाम दे दिया वह प्रवीण लड़की तीसरे दिन अपने आप खाट से उठकर चल पड़ी आंखों से दिखने लग गया बोल सतगुरुदेव अब ये बातें नादान व्यक्तियां धनो लागेंगी जानो सट्टे मारते होंगे महाराज जी लेकिन सट्टे और माई खुला के और सट्टे जला के कोई ना मारे जाओ तो गुप्त मारे जाएंगे कि लोकमासी वो भी एकाध एका के बतावेंगे अरे एक और देखो यू आया भगती ये वरदात्मा बुढ़ा इसने ठा के ले गए थे शेरी काम में हमारे दौरे अब किसी का किसका है बात से कबीर साहब का हमने तो बौड़े मान रहा दुनिया हमारी सारी बात बावड़ी नौके बिना दवाई ठीक हो गए इस इस वर्ग ने लिए भाई फोटो इसका अब देख लो जमा बाल कितनिया चलता आया है तो इसने वहां पर उठा कर ले गए थे शेरी गांव में और बंगा पा हो रहा पा सीधा हो कोई ना करा कितने दिन तक तो तकलीफ थी सत साहब जी आपका नाम क्या भगत जी नाम तो जी जगमाल का जगमाल भगत जी कोलाना के हाँ, हाँ कोलाना के चलो और इनकी पत्नी बुढ़िया उसका तमाशा देख ले तो सारा ना सिया वे करा कै साल तय मेरा ना किनो नुगते बिला उपरा से कोई कह इसका दिमाग में खराबी से आड़ बैठ जाती ने मन ना बोलन दे आपा बोलो कई बार ले आयो हमारे पास और को 20 साल तो तकलीफ थी नाम लनते हुआ ठीक है और ये बर्द देख लो आपके सामने आया से बालक की तरिया चल रहा है नहीं इसका चल नहीं जाता रो है था ना बुरी तरह ये थरिया क्या के बताओ सो ये कबीर भगवान से हमारा इस पूर्ण परमा ये तो मुफ्त में सुख है और असली सुख है इसका जन्म मरण न काटेगा चौरासी में जानते हटाओगा जो कोई भी नहीं बाप को रोक सकता ये એકો એકલા ખેકો કમો એરલા કરવા ચાહો છે ये को ना सोचमा ये कड़वी वैसे लागे मेरी बात है पर इस शायद कैसी मीठी होंगी जिस पर विश्वास करोगे तय अगर करवा चौथ तो समाधान हो पत आदमी सुहाग बना रहे इस तो आसान तरीका है कोई ना जितनी बहन आज विधवा हो रही उन्होंने पूछो क्या वह करवा चौथ तो नहीं मनाया करती थी अर्थम डाले डारी पो मत पट्टा उड़ रहे नो कहे इस तमोद हो जाएगी ज्यादा कोई लागे है तेरा भलाई जिसने बेरा होता हंसेगा तुम्हारी बातों पर अकपो में दुपट्टा होने बैठे नो कहना दाडा कौन लागण दे आकड़े पाओगे तड़के सान दे दाडे ने आया ना इतने जो लागे है को ना लागे दाडा पो में और दुपट्टे तट जाएगा तो संतान बेरा था इन बातों का कि समाधान कोई नहीं दुखों के जिनके लिए तुम आड़ लाए बैठे हो आड़ तो भाई नाम तटेगा मीरा बाई नाम लिया जहर भी पीगी बकरवा तो उतरा क्या करती गीत तगाओ बाई के रख दी होगी तो उसका पति बेरा बता नहीं रख्या करती कहने का भाव नाम का आसरा लेना पड़ेगा तो जी वो वह ठीक होगी कति और फिर हुआ उस परिवार पर विश्वास है लोग अजय हमने इस बिना कुछ नहीं दिखता सारे परिवार ने नाम लिया को पांच पाठ करा लिए पाठ में लागे कि इसे धर्म का काम से ये सारे दो ढाई हजार रुपये साल में अगर आदमी नहीं ला सकता भगवान के नाम पर तो वो मनुष्य को ना बीडी पीढ़ियां भी तीन हजार रुपये खर्च कर देता है सिगरेट और बीडी वाला सा, एक, एक, एक साल में हिसाब ला के देखो और दारू पीढ़ियां का दस तो टीमेट कोई ना के नाश कर दे तो साल भर में और धर्म के काम पर कुछ लागता भी कोई ना अरे इसने ला करा जी ना लाओ तो राह का बेरा ना रास्ते अब कौन बेरा क्यों कर लावा गणत गणे अपना मंदिर में गिर आए उड़ा सौ सुल्पा पुजारी रुपये पी जा को गांव में को गोरा बैठा हो महात्मा उड़ा चढ़ा दिया वो सुल्फा खींचा खागड़ बताओ उनका कौन करो हम हमने उनका तो पुण्य को ना पाप है उनका बल के तो हमने ये रास्ते मिले पुण्य करने के उनका कोई समाधान नहीं हुआ उधर से उस लड़की का जबान भी बंद हो रही इसकी यशवंती की जबान बंद थी जब हमारे पास आई गुंगी ये दौरा बैठा सुरेश पूछ ले इस पे हाँ कति गुंगी थी नाम लिया सब में कई संगत ने नाम लिया था और उसने मन मन में बोल लिया उसका भाई कहने लगा जी मैं तो सुबह जाऊंगा पहनने लेकर बखत ड्यूटी पर जाना है और बहन ने छोड़ जाऊंगा बहादुरगढ़ मेरा भाई इंस्पेक्टर लगा हुआ सिटी में ऐसे तो राजेंद्र राठी और फिर मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा मैं चला जाना भाई इसलिए इजाजत मांगू तो फिर क्या हुआ सवेरा वो वहीं घूमे मैं बोला सुखबीर तो गया को नहीं अगली गया के बस पूछो मत ना आज तो निहाल कर दिया हम तो बंदी छोड़ छोड़ने के कर दिया भाई क्या हो गया कि मेरी बहन ठीक होगी या तो कति गुंगी थी और दौरे पड़ा करते दिन में डो डो गए या बोलन लागी तो जी मेरे पर नहीं जाया गया मैं बोला है वह विश्वंती बुलाई उसने अब महाराज जी तो कति गूंगी थी और इसके साथ संकट मारे घर पर नहीं था अर्नो कहा तो ठीक होगी विश्वंती मैं ठीक होगी भाई आए तो तो बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ भाई क्यों कर बोलिए नाम तो ठीक होगी मैं तो तड़के बोलती पाई दो एक बार नाम जपया था मन मन में यो और मैं तो ठीक होगी वह यशवंती से हाथ जोड़ जोड़ कर सारी रिश्तेदारियां में दादा के सारी बहनों को लाइन पर ला दिया तोड़ के बह रखी उसकी तीन चार बाण उन सारिया नाम ले लिया और दो दो पा, एक एक पाठ करा लिया एक एक और दरबार रखा ने बोले बला हो यशवंती के इस दुख ने हमारे को सारा जीवन बदल दिया और इसकी एक बहन यशवंती की अब ये अगर मैं ये सुनाने लग जाऊं तो ये कोई ना खत्म हो तीन दिन तक इसकी बहन है उसका नाम है सुकंतला वह कहती थी मेरे पैर में सात साल से तकलीफ थी एक ऑपरेशन तक करवा लिया था और उस तो भी ठीक नहीं हुई दूसरा ऑपरेशन के लिए इस बार हॉस्पिटल हड्डियों वाला रोहतक में और वहां ले गया मेरा जेठ ठाकर और पति पीवा दारू कसूती डाल वो बोला पैंतीस हजार रुपये लागेंगे ईश्वर हॉस्पिटल इस इस ऑडियो वाला ईश्वर डॉक्टर बोला नहीं बोले जी मेरा ब्योंत कोई ना मैं तो उल्टी आएगी और चाला दानी जहां बैठा जा करके वहीं बैठी रहूं और फिर उसने ईश्वंती तीन जाकर समझाई ना नाम लिया ने बोले जी हफ्ते पाछा मन तो लाठी बगा दी और पंद्रह दिन पाछा रोटे डोन लाएगी बोल सतगुरुदेव की बिना मतलब उसके कोई और ही है और वो होगा इन्हीं आधारों पर तथ्यों पर आधार पर कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ना पड़ती अब प्रत्यक्ष आपके सामने उन बहन और भाइयों के साथ के का इंटरव्यू समझ लो या उनकी दुख भरी कहानी समझ लो यह आपको सुनाई जा रही है और फिर भी बुद्धि ठिकाना नहीं आती तो कमजोर संस्कारों का ही परिणाम आपके अंदर अभी बाकी है हम क्या करते हैं कबीर साहब को मैं भी अपनी बताता हूं किसी भक्त ने जो पहली बार मेरे से कहा कि कबीर साहब भगवान है इतना कड़वा गया जैसे कुनी न गया करे कबीर किसने भगवान बना दिया कदे सुनया नहीं लेकिन जो इसमें फिर तच आए उनको अस्वीकार नहीं कर पाए जो सच्चाई आई उस बारे में सतगुरु महाराज की सतगुरु की महिमा का उनकी लीलाओं का जो ज्ञान हुआ तो फिर अस्वीकारी नहीं हो पाया मन मन न तो मान आत्मा तो स्वीकार करगी मन फिर भी नखरे करे पर मन के नखरे थोड़े दिन चलने ज्यादा नहीं चलते ये तो कुबद्दी है उल्टे काम न चाहे शराब न चाहे बीड़ी न चाहे सुल्फा पीना चाहे सिनेमा चाहे सांग चाहे मीठी गोली खाना चाहे कड़वी दवाई इनके खा कर राजी से पर बीमार न खानी पड़ती है और कड़वी दवाई खाने से ही <clears throat> बीमारी कट है मीठी गोली अदना तो कट है और फिर मन में आवा यू तो दानक था मतलब जब मन कड़े थे तो सोचा कितनी घटियापन में थे हम यू तो बिलाल छोटी जाति वाला था और फिर मन में आत्मा ने उद्धार किया जब आप मन में प्रश्न आए तो हमारे से भी फिर जो प्रश्न करते हैं यही करते हैं आकर क्योंकि तो जुल आया था मेरा क्या का भगवान था किसी ने भगवान बना दिया अभी कृष्ण कौन था फिर कृष्ण एक अहीर था वो कौन सा आपकी जाति का था इसने क्यों पूछो रामचंद्र जी कौन थे ये एक क्षत्रिय थे राजा थे जाके ये कौन से थे रिश्तेदारी में पड़े थे इनके गुणों के आधार पर मान्या और परमात्मा का जाति नहीं होती हमने बना रखी तो <clears throat> जात नहीं है हमारी कोई भी एक जीव जाति है मनुष्य जाति है हमारे जीव में फिर हम एक जगह सत्संग कर रहे ऐसे ही समाज जिसको अछूत कहते हैं अब ये नादानी हटती सी हटेगी घनी घर करगी हमारे हृदय में अब हम चमार कहते हैं चमार किसे कहते हैं <clears throat> चमार जो चाम का काम करे चाहे किसी जाति का भी हो वो चमार कहलावे अर्जुन की तीन तीन पीढ़ी हो गया वो काम छोड़ दे उनको भी चमार कहे बताए यह बात नहीं समझ में जुल्हा किसे कहते हैं तो ताणी बने वो कोई जाति का बनकर देख लो दिल्ली में एक पंडित उस पर लिख रखा अपना नाम फलाना राम शर्मा और नाई की दुकान खोल रहा अब उसने शर्मा को गंदे उन्हें नाई कहते हैं फलाने नाई की दुकान पर बाल कटवा के आया था तो बात ये नहीं है जाति कर्म से आधार पर तो हम ऐसे वहां सत्संग कर रहे हैं अड़ोसन पड़ोसन गणिया आ गई एक मतलब कर रहे थे सत्संग ऐसे प्रसाद बाटन लग गए जब किसी ने नहीं लिया नो का हमारे तो प्रसाद नो तो तक को निन का ना लेवा हम मतलब अपनी बुद्धि अनुसार अब भाई अमीन का भाई जिसका हम कर रहे थे हरिजनों के संत जाति नहीं मानते अपने हिसाब से बना रखे तो बोली महाराज भरत तो से तो वो चली गई ठीक है बाद में वो कहने लगे जी ये इसलिए ना लेते कि हम छोटी जाति से मानते हैं और ये नाम भी ले रही है फलाने स्वामी पे को का फलाने स्वामी पे फिर यह बुद्धि दे रखी थे गुरुआ ने जब अभी तक तुम्हारे अंदर इतनी भिन्नता है तुम्हारे दिमाग में तो क्या हुआ अब देखो हम गीत गाते हैं बिलनी के और भगवान की महिमा सुनाते हैं कि भगवान राम ने बिलनी के जूठे पेड़ खा लिए सभी सुनते और सुनाते हैं और बड़े गीत गाते हैं वो भी गाते हैं तो आदना खाते दूसरे भगवान ने तो उस अछूत के अर जूठे बेर खा लिए और तुम उनके पल्ले ने बिना लगन देते तुम मुक्त हो जाओगे गधे की जूनी में जाना तुमने इतनी नफरत जीव जाती से और बिलनी की महिमा गाते हैं भगवान ने उसके जूठे बेर खा लिए इसका मतलब तुम तो उस भगवान राम तो ही बड्डे हो गए उनके घर का बना हुआ अन्न भी नहीं खा सकते ये नादानी भाई मारी यह हटे बिना परमात्मा कौन मिला था कितनी बात बनाओ तो ये हमने हटानी पड़ेगी और कल सुना था आपको कि चूड़े का चरणामृत लिया कृष्ण चंद्र करतारा भगवान कृष्ण ने उस बाल्मीक सुपर सुदर्शन के पां धोकर पिए चूड़े के हरी दृष्टि में चूड़ा चूड़ा कौन होता है जो दारू पीवे मांस खावे सल्फा पीवे हुक्का पीवे दूसरे की बान बेटी ने बूंदा तक का चोरी कर ले जदाद दबा ले प्लाट दाब ले और फ्रेब करे ये गुण जिसमें वो चूड़ा है चाहे किसी जाति का है और जिसने ये कुकर्म त्याग दिए भगवान का नाम जपे और बीड़ी शराब मास्त माखू निंदा चुगली छोड़ दी वो देवता है आप चाहे उसके किम में फीत लाए रहो डाकू थे <clears throat> रत्नाकर जी उस समय उन्होंने अपने सारे दुष्कर्म त्याग के भगवान की भक्ति करते थे और फिर वो बाल्मीक कहलाए लेना है तो नाम लो भगवान का पूरे गुरु से और फिर वजन करो डट के और देना है अन्न जैसा दान नहीं खूब दान करो जितना हो सकता है और तरने को आधीनता की खोकरी सिर तक काट के भगवान के चरणों में विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दिया लेकिन अभिमान रूपी कचरा जो इंजन में आ गया फिर वो सारी बंद हो गया खत्म होगी कहानी अहंकार कर भगवान का कभी मेल नहीं है कबीर नाम बिना बेकाम है ये छप्पन कोटि बिलास कहा इंद्रासन बैठिया भाई क्या बैकुंठ निवास इस नाम बिना कोई ठिकाना नहीं जीव का और चाहे तू तो छप्पन कोटि विलास कितने प्रकार का चाहे सारी पृथ्वी का राजा बन जा क्योंकि कर्म आधार पर ही यहाँ पर राजा बनता है और चाहे पुण्य करके इंद्र भी बन जा और चाहे फिर बैकुंठ यानी स्वर्ग में भी चला जा नाम सतनाम बिना बेकाम है सतनाम बिना सार नाम बिना स्वर्ग क्या है कहते हैं एक समय की बात है गरीबदास जी कबीर साहब ने यह बताया कि स्वर्ग तो सबसे घटिया चीज बताई और हम स्वर्ग ने इतना मान रहे सबसे उत्तम यहाँ के सभी शास्त्र स्वर्ग से ज्यादा नहीं मार्गदर्शन करते और स्वर्ग तक ही मार्गदर्शन हमें देते हैं स्वर्ग में चले गए भाई ओहो स्वर्ग हो गया भाई अब स्वर्ग को क्या किस दृष्टि से मालिक देखते हैं कबीर भगवान कहते हैं एक समय की बात है मारकंडे ऋषि तपस्या कर रहे थे अपनी योग साधना कर रहे थे इंद्र ने दो बात नहीं अच्छी लगती एक तो कोई तप करके तेरे राजना ना ले ले इंद्र की पदवी को दूसरा कोई यज्ञ ना कर ले जैसे राजा बलि ने यज्ञ करी थी इंद्र ने प्रार्थना करी विष्णु जी का आगे उसकी यज्ञ भंग करवा का मान्या अक मेरी पदवी ना चाली जाए मार्कंडे ऋषि के पास इंद्र ने एक उर्वशी भेजी कि उसके तप न खो गया इंद्र इन जो उर्वशी आई कि लिखा गरीबदास ने कि सारे साजबाज लेकर ऐसा वातावरण बना दिया वहां पर जैसे बसंत ऋतु भी ना हो इतनी बढ़िया मीठी मीठी हवा चाल है चारों तरफ सुगंध भर दी और इतना सुंदर हार श्रृंगार करके उसका वर्णन कर रखा इतने सुंदर लाल ला रखे चारों तरफ का और उसके माँ का नौकर तीनों लोग दिखे उसने उसमें ऐसे ऐसी रेंज के जैसे वो लाल लोग ऐसे दिखा दे वहाँ ऊपर के लोगों को और वो नाची काफी देर नाच कूदली और मारकंड ऋषि की आधी आंखें खुली आधी बंद और अपना समाधि में बैठे आखिर में कहते हैं और वसीने नगन हो जाती है निवस्त्र हो जाती है कमर का नाड़ा तोड़ डाला <clears throat> उसमें मार्कंडा ऋषि कहता है बेटी है बहन एम आई तो यहाँ पर के करने आई जब माँ और बहन और बेटी की संज्ञा दी शर्मागी कपड़े पहन कहने बोली मार्कंडा ऋषि तुम जानो तुम्हारी योग समाधि कहाँ रहती है और मार्कंड ऋषि बोला कि तेरे जैसी जहां पर मेरा ध्यान गया हुआ था वहां पर नाचने वाली जो औरतें आती हैं अप्सराएं उनके साथ तेरे जैसी सात सात बांदियां थी जो उनके पैर धोती हैं उन सुंदर औरतों की जहां मेरा ध्यान गया हुआ था जहां मैं नाच देख रहा था कहने का भाव कि जिस ब्रह्म लोक में मैं सुख महसूस कर रहा था वो तेरे इस नाचन गान में मन फीका लग गया था कुछ भी नहीं था और तेरे तो कोई सुथरी हो उसने भेज दे जाकर और ऊपर ली हो उसको भेजना अब वो कहती है कि आप एक बार इंद्रलोक में चलो ना तो नो कहेंगे मल अखाड़ा आ रही और मेरी हंसी करेंगे मैंने दुआ दे देंगे वहां पर मेरे को सजा मिलेगी इंद्र सजा देगा जो बोला तेरे से ऊपर ली उसने भेज दिए जो बोली इंद्र की पटरानी मैं ही हूं तो फिर इंद्र मरेगा जब किसने करेगी कि सात इंद्र भोगूंगी चौदह इंद्र चौदह इंद्र भरूंगी और चौदह इंद्र भी तब तो मरेंगे फिर किसने करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी और जितने इंद्र मैं भोगूंगी वो गधे बनेंगे मृत मंडल में आकर प्यारी स्वर्ग न चाटेगी अब देखो महाराज कब गरीबदास जी कहा से लाए हैं इन बातों को कहा बुद्धि ठिकाना करने के लाए हम तो स्वर्गता तो की पापड़ बेल और स्वर्ग की पटरानी और स्वर्ग के राजा इंद्र गधे बनेंगे स्वर्ग भोग के और वह पटरानी कितनी आयु है उस सची की कि चौदह इंद्रों की आयु तक वो मर चले जाएंगे गद्दी छोड़कर दूसरे बैठ जाएंगे दो पुन करते और वह एक रहेगी उसके बाद भी कहा कि मैं तो गधी बनूंगी और ये गधे बनेंगे तो गरीबदास कहते हैं स्वर्ग हमने भी देखा पर हमारा मन नहीं लग गया हमने स्वर्ण मंडल को किया पियाना काल कर्म सब भाग्या स्वर्ण मंडल और ऊपर गए निरंजन के लोक से भी ऊपर गए सतलोक में अब यह महाराज कहते हैं सतनाम बिना बेकाम है ये छप्पन कोटि बिलास है और के इंद्रासन बैठिया और क्या बैकुंठ निवास बैकुंठ कहते हैं स्वर्ग को इंद्रासन इंद्र की गद्दी पे भारत काम के कोई है ये हमने जाना सतलोक और वहां जाने के बाद जीव का मरण नहीं होता वहां पर इतने सुख हैं कि करोड़ों स्वर्गों के सुख न मिला दे तो भी फीके पड़ जाए तो हम क्यों ना उसकी साधना करें <clears throat> कबीर लूट सको तो लूटियो या सतनाम की लूट फिर पाछे पछताओगे भाई प्राण जाएंगे छूट यहां से भी कहते हैं लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट अब राम नाम कौन सा है अगर भगवान विष्णु राम विष्णु जी का जाप करोगे विष्णु लोक में जाओगे स्वर्ग तक की उपलब्धि होगी वो भी राम है अगर विष्णु शिव जी का जाप शिव जी भी राम है शिव जी भगवान का जाप करोगे तो शिवलोक में जाओगे गण बन जाओगे और वहां पर भी इन्हें पैरे देने पड़ेंगे चौगरदे का लाठी लेकर देवताओं के देवताएं पैरे पैरेदार होते हैं वो उनके नौकर हैं और वहां पर खा के अपने पन को फिर नरक में नरक के बाद यहाँ चौरासी के पूरे गेड़े में तो यहाँ राम नाम की लूट उस पूर्ण राम की सतपुरुष राम की अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान कबीर राम की लूट नाम के लूट लूट लो आदि नाम निजमूल है और मंत्र सब डार आदि मंत्र निजमूल है आदि मंत्र वो सतनाम आदि मंत्र निजमूल है और मंत्र सब डार कह कबीर निज नाम बिना यो डोब मुआ संसार जो सतनाम है वो आपका मूल है जड़ है सार नाम सतनाम और बाकी जो नाम से उस भगवानों के वो डार हैं यानी वो पत्ते वत्ते ही जड़ में पानी डालोगे तो बात बनेगी पत्ता पर डालने से कोई लाभ नहीं होता आप पत्तों को सींच रहे हो देवी देवता पत्ते हैं डाली हैं और जड़ में पानी डालोगे पौधा फलेगा भक्ति रूपी आपका नहीं फल सकता अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार और मूल कौन रह गया जड़ वो कबीर भगवान सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म जैसे पौधा पेड़ हमने पृथ्वी से ऊपर देखा है पृथ्वी से ऊपर ये तना है ये तना है ये समझो ये तो है निरंजन अक्षर पुरुष यानी पार ब्रह्म और इसके फिर यह मोटी डाली निकलाई डार निरंजन उसकी डार और उस डार में का फिर तीन टहनी लागी ये ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन का और इसके ऊपर आगे फिर डाली डोली देवता और पत्ते रूप में आप हम सब यहाँ बताते ही पत्ता तुम घेरो पत्ता पानी कोई ब्रह्मा ने पूजा कोई निरंजन ने पार ब्रह्म तक की पूजा को भी महाराज कहते हैं जड़ में पानी डाले बिना पल पर प्रफुल्लित नहीं होगा जड़ में पानी एक ऐसा दे सब सदै सब सा दे सब जा और माली सी इस मूल को वो फला फुलाएगा अब हम जड़ में पानी डलवा रहे हैं हमारे सेवकों से अरे इनका वह शौक हो गए जो सारी उम्र होगी निकना गद काटता न माता दुखता न और उन पत्रा न पूजता ने ई ना हटे हुए न्यू लाठी ले गेल पड़े रहे से अब आपको बताता हूं ये जोची साधना कितनी खतरनाक शब्द हो रही है चौरासी तो, तो चौकस है इसमें और और समाधान कुछ भी कोई ना मेरे गुरु जी राम देवानंद जी अब समाज की फीत जो ला रखी है हम तो नहीं मानते इस गीत को पर बतानी ही पड़ा ये अंधेरा हटाने के लिए ये स्वामी जी हैं ये रामदेवानंद जी इनका नाम है ये वाले ये सामाजिक फीत के आधार पर ब्राह्मण जाति से पंडित जाति थे लेकिन ये कभी भी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे क्योंकि इन्होंने ज्ञान था इस बात का पंडित सोए जो पिंड की जाने ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाने हो गया और मेरे दादा गुरु वो छावला ये छावला गांव रहा यहाँ के जाट थे और ये चार विषय के आचार्य हो गए काशी विद्यापीठ में पढ़कर इनको पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है पंडित चिदानंद जी ये पंडित जाट होते हुए ये पंडित जी कहलाते हैं इनका गोपालपुर में आश्रम बना हुआ है पंडित चिदानंद जी आश्रम पर ये इनको ये अपन ये पंडित कहा है गुरुकुल खानपुर गुआना के पास है उसमें एक जाट था वहाँ का प्राचार्य था यानी मुख्य अध्यापक हेड मास्टर प्रिंसिपल उसको पंडित जी के नाम से बोलते हैं उसको जाट नहीं कहते कोई भी फलाना पंडित जी ये जाति ऐसे होती है अब कोई संस एक भी एक श्लोक गीता का नहीं जानता हो भी पंडित जी अब जाट के दर्द की दवाई नहीं जानता हो भी फलाना राम वैद्य अब वैद गोत्र बना रखा गोत्र अब देखा होगा भाई फलाना राम वैद राम प्रकाश वैद और उसने पूछे जाड़ की दवाई अकमन ना मेरा तो वैद क्या कहा वो सुखी फीत ला रखी है पंडित विद्वान को कहते हैं और गीता जी में पंडित की परिभाषा बता रखी है पंडित कहते किसे इसलिए हम नादानी में सुखी फीत लाए बैठे हैं या फीत काम ना करे भगवान के दरबार में वहां तो काम करेगा भगवान का भजन और नाम चाहता था ये जो कनागत श्राद्ध काट रही धोखा अपने साथ में कति निरा मेरे ये गुरु जी जो हैं रामदेवानंद जी ये पैतावास दादरी के पास एक बड़ा पैंतावास गांव है चरखी दादरी भिवानी जिला में वहां के रहने वाले थे इन्होंने ऐसे सत्संग सुन लिए जब ये सोलह साल की आयु में थे और पिछली क्यों कमाई भजन की जोर देगी जैसे मीरा बाई का ऊपर असर करगी एक का दो बात तो जिनके पुण्यक्रम पिछले जन्म जन्मांतर की साधना होती है भक्ति की वो वो डटिया नहीं करते फिर नो सोचे नाम ले जा बस फिर अपना भजन करें इनने इतना ज्ञान सुन लिया उनका संतों का हमारे गुरुदेव से गंगेश्वरानंद जी ना ये चिदानंद जी ये जब मिल गए इनके चाचा के पास आते थे और चाचा जी गीता जी पढ़ा करते और इन्होंने आके बताई ये बात जो मैं बताऊ आपको इनको इन्होंने बोला जी मन चाचा जी वाली बात फीकी लगन लगी और जो गुरु जी बताओ थे वो बात जचन लगी तो इन्होंने क्या किया घर त्यागे घर त्यागे खेत में काम करे थे वहीं से भाग गए अपनी चादर ले रखी थी वह चादर उड़ा पाड़ के जंगल में घेर गए फाड़ के क्यों डाल गए ये घर के ने सोचे अरे खा लिया होगा जंगली जानवरों ने सौ साल पहले की बात है अब ये सतानवे जनवरी सतानवे में छब्बीस जनवरी सतानवे में श्री त्याग गए एक सौ सोलह सत्रह साल की आयु के बाद तो जी और ये घर से निकल गए घर वाला ने ढूंढ करी खेत में ढूंढा रिश्तेदारी में गए भाई कहाँ कहाँ कुछ नहीं पा फिर देखा कि एक चादर फटी पड़ी है और वहां पर इसी जगह डाल गए जहां पर कुछ आड भी पड़े हुए थे सूखे साके किसी पशु के अब घर वाले ने सोची भाई तो कोई रात्रि में पशु पाशुआन खा लिया जंगली पहले शेर वेर बहुत अंडा करते थे चीते वगैरह भी जंगल बहुत होते थे सैकड़ों वर्ष पहले घर वाला ने क्या करा वो हड्डी और वो चद्दर खा लाए अंतिम संस्कार कर दिया तेरह मी मनाई फिर महीना मनाया छह माई करी और फिर बरसौदी कर ली और फिर हो गया जी कनागत शुरू और ये अपना नाम लेकर बदल करने लाग दुनिया का उद्धार करे एक दिन क्या हुआ इनके मन में आ गई शरीर क्या गणते एक वर्ष पहले छियानवे छियानवे के लगभग ये मार्च मोर्च में इसमें मार्च अप्रैल में इनके अपा मनवा इनका आश्रम एक तो नजफगढ़ बना हुआ है यहां भी रहते थे ये थाने के लगती हुई दीवार है एक तलवंडी भाई पंजाब फिरोजपुर जिला में एक मोगा में तीन जगह आश्रम है इनके अब भी मौजूद है तलवंडी में रहते थे ज्यादातर तो वहां से अपने सेवकों से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं एक दिन की खातर उन सेवकों ने कार की उसमें मैंने इनके पास सेवा के लिए अपने सेवक छोड़ रखे थे थे तो उससे उन्हें के उनकी कृपा से आदेश हुआ था नाम देने का इन्होंने मेरे को कितने सिस्टेन के काफी कई हजार और जिसमें लाल लत्ते रंगड़िया भी गणे थे किसी को आदेश नहीं दिया नाम देने का मेरे को नाम देने का आदेश दिया इन्होंने किसी को नाम देने का कितने भी संत होकर जा लिए उनको आदेश नहीं दिया नाम देने का और मैं तो अपनी एक नौकरी भी करता था इनकी मेहमान कौन जाने और सैकड़ों व्यक्तियों के सामने बुला के बता दिया कि आज के बाद ये तुम्हारा गुरु होगा तो उसके बाद नाम देने लगे तो अपने सेवक छोड़ रखे थे मैंने दो तीन इन्हीं के सेवक थे त्रिशोला गांव के थे तो वो हमें पता लगा कि महाराज जी पैंतावास आ चुके हैं हम करसोला में सत्संग कर रहे थे रात्रि में चले गए हम वहां पहुंचे तो सुबह सुबह नहाए धोए रोटी खाई और महाराज जी वहां बैठे कमरे में इनकी भाभी भी जीवा है वो लगभग बानवे वर्ष की आयु बताती थी उस समय अपनी तो हम बैठे मैं बोला जी आपने क्या मान रखा था नो बोली जब मैं यहाँ पर ब्याह आई तो मैंने पता चला कि इनका एक भाई बेउलादा मरा हुआ है नी संतान पूता का आकरण जिसने और उसके कनागत श्राद्ध शुरू हो हो रहे थे इनके माँ आई जब कनागत दिया करते इसके और सत्तर कनागत तो मन अपने हाथ काट रखे इसके श्राद्ध अच्छा फिर कोई घर में चुक होती नहीं क्या करती थारा हरिद्वारी मर रहा है ना वो ओ सिद्ध है इनका बचपन का नाम हरिद्वारी था गांव का नाम बाद बाद में इन्होंने अपना राम देवानंद बदल लिया तो जो भी संकट आता घर पे नौका करते थारोरा ओ हरिद्वारी दुखी करे जो तो बे बेउलादा मर रहा है और ये बुद्धा रही है पितरा रही है जो नकली मेरे जैसे पंडित जी तीन बात जाने करे एक तो जानते नौकेंगे थारा कोई बेउलादा मर रहा है वो सीधा है और वह बे औलादा संतान हर गांव हर घर में पाओगा आज से पचास वर्ष पहले चार चार उड़ा करते छोरे एक एक ब्याह जानता बाकी दो तीन तो बे औलादे में रहा करते तो ये सब का पाओगा नो ईब ना होगा नौकर थोड़ा पित्त सरा से दस हाँ वो तो बे औलादा में रहा था तो वो जानते सुहा लाओगा थारा बे औलादा में रहा हुआ उसके वो सिद्ध है तो नो बोली जी फिर वो बताते उसके पाँचों लते दे दो वो दे देते फिर क्या कहते श्राद्ध ठीक नहीं निकले कामना बुलाइयो वो बुलाते सत्तर कलागत तुमने तो अपने हाथ से काट रखी तो मैं बोला एक बात बताओ वो श्राद्ध ठीक थे या गलत थे आप तो देखो आपके सामने तो प्रत्यक्ष हो लिया अब तो छोड़ दो इस बीमारी ने और भजन करो भगवान का कुछ नहीं रखा श्राद्ध कनागतों में ये तो डरे डोने वाली बात सर गीता जी मना करा क्या तुम फिर भी पूजो न बोले जी क्या छूटा है तुम्हारा लाग लाग रही से छोटे बाग थारे बता या के लाग जब चौड़े में चौंध बता दी और झूठ चौकी नौ नो सामने आ गई तुम्हारा के ये झूठ बोला करते थरा उसे दे और ये दुनिया का कल्याण करने लाग रहे तेरे की इतनी बुद्धि हमारी दबा रखी है कालदेव ने डरा रखी हमारे को कि कदे न छोड़ना दारियां खा दे और ये हमारे सेव चार चार साल तो छोड़ रहे बुझ जो इन बहन भाइया ताड़े थारे दोरा रही से ना ये अवई कमोई मनाती ना करवा चौथ मनाती और ना ये सारे सौदे करती कनागत सराधक कोई लटोटर नहीं करती अब इनसे पूछे ये सुखी हो एक दुखी हो इसके बाद में और ना जल दकड़ दकड़ करा कर साचे काम बिगड़ जा ये छोड़ देना और ये छोड़ते छोड़ते दुखी हो रहे थे छोड़ने पाचा सुखी हुए और सारे और आत्म कल्याण का मार्ग मिल गया ऋषि जैसा परिवार घर में हो गया भाई छुट्टा देगी फिर समय लागे दो चार सत्संग और सुनोगे जो बात बनेगी आद नाम निज मूल है और मंत्र सब डार और कहे कबीर निज नाम बिना ये डूब मुआ संसार के बाद वो जो तपस्या पर दुख पा रहे थे वो प्राणी वो कहने लगे महाराज जी का जब भूल भटक्का मनुष्य शरीर हमने मिल गया ना हम आपके नाम ने को नहीं छोड़े आपका नाम लेंगे हमें कहे कबीर सुन पुरुष पुरुष पुराना कहे जीव सुन पुरुष पुराना अर्दे धर बिसरो नहीं जाना पुरुष जान सुमरा जमराई और वेद पुराण कह समझाई हमने तो भगवान समझ कर सतपुरुष मान यानी परमात्मा मान कर और काल की पूजा करी किस किस की वेद पुराण कहे मति एहा और निरंकार तय कर लो नेहा वेद और पुराण यही बताते हैं एक निरंकार शक्ति है तो ही एक निरंकार कहते हैं ये निरंकार निरंकारता तो सारे चाले रोक रह सकते ये निरंजन है ये एक लाख जीव रोज खाता है वो सनातन परमात्मा वो निरंजन भगवान और उसकी खातिर हमारे को बेकूफ बनाकर ये नकली मोह ममता ला के जबरदस्ती जिस प्रकार मक्खी लाले पर चिपट गया वह उठ को ना सकती और मीठा भी कोई ना और छोड़ा भी ना जाता पर फंस तो चुकी ये तो ना कोई और सुलझावे शायद शायद बेचारी की जान बचावे तो कबीर साहब समझावे निरंजन के लाले माता वेद पुराण कहे मत एहा उस निरंकार से कर ले नेहा और सुर नर मुंजन तैतीस करोड़ी ये बंधे सब है निरंजन डोरी तैतीस करोड़ देवता अठासी हजार से ये भी काल की डोर का बंदरे से वह साधना करते निरंजन वाली ताके मते कीन हम आशा इन्हीं शास्त्रों के आधार पर हमने आशा की कि मुक्त हो जाएंगे अब हमें तीन पडाइम फांसा अब हमने इस काल की फांसी का बेरा पिट गया अब पता चल गया काल ने हमें बुरी तरह फंसा रखा था महाराज जी कबीर साहब बोले सुनो जीव आ, हाँ, सुनो जीव ये छल यम केरा ये यम कीना फंद गनेरा काल कला अनेक किन्ना किन्हीं जीव कारण ठाठ हो और वेद शास्त्र प्राण समर्थि अक्षर में रोक के बाट हो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है इन शास्त्रों में पूर्ण ज्ञान नहीं है अधूरा ज्ञान है वेदों में निरंजन तक की जानकारी है शास्त्र भी उसी का भिन्न भिन्न शास्त्र क्या चीज है जिन संतों ने अपनी योग साधनाएं की जितने जिसको उपलब्धि होगी उतने ही लिख दिए ये सतयुग में लिखे गए तो सतयुग के बाद तो ऋषि ऐसे हो ही नहीं सकते जो सतयुग जैसी साधना कर लें उसके बाद इन ऋषियों ने वही शास्त्र मान्य हो गए एक शास्त्र कहता है ये गलत है साधना दूसरा कहता है ये गलत है तीसरा कहता है ये ठीक है ये गलत है आपस में विचार नहीं मिलते हिंदू कहते राम बड़ा और मुसलमान खुदा खुदाई रे और कोई का ईसा मसीह बड़ा ये बाटा रे लगाई रे अब भगवान तक पहुंचते भी कोई ना बड़े छोटे का मामला खत्म हो जाए जीव पड़ जीव पड़े बस काल के और काल कला पर चंड काल कराल पर प्रचंड सतनाम चीने बिना जन्म जन्म भवदंड है कबीर साहब कहते हैं गुप्त वस्तु प्रभु मोको दीनी प्रभु सतपुरुष पूर्ण परमात्मा ने नाम विधे मुक्ति कर चीनी दीना पान परवाना हाथा छंदी छाप में सौंपी न था बिन रसना से शोधन होई गुरु नाम गुरु गमते लख पावे कोई एक अजप्पा जाप होता है सतनाम जिसे कहते हैं वो श्वासों से सुमन करना पड़ता है वो बिना जीव के बिना रसना के शोधन होई और गुरु गम्य गुरु की कृपा ते गुरु के भेद ते और लख पावे कोई गुरु बतावे और जब उसका भेद पावे पांच यही विधि नाम गह जो हंसा तारू तास के को तरवंसा जो इस प्रकार उस सार नाम को सतनाम को और जैसे मैंने बताया वो बिना रसना के उसको जप्पा जाप कहते बिना जीव का जपना होता है वो सांस से सुगन होता है और सार नाम फिर और न्यारा है यही विधि नाम गह जो को जो हंसा और तारू ताश के इकोत्तर वंशा उसके 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा जो मेरी इस विधि से नाम पर लग गया 101 खानदान को नाम डोरी लो कही जाई धर्म राय ते देख डराई उस नाम रूपी ड्रसी ने पकड़कर सतनाम ने और लोक ने जागा सतलोक जागा सारनाम सतनाम की डोरी को पकड़ के और सतलोक में जागा अपने सतलोक में और धर्म राय तो ही देख डराई ये निरंजन उसको देखकर घबरा जाता उस हंस के पास जिसके पास ये नाम होता सतनाम और सारनाम ज्ञानी करो ते जाई तिनका तोड़े जल अवचाई जे विद तुम कुम पाना ते विद देहो शिष्य दाना हम तुम में अंतर नाही जैसे तरंग जल तरंग माही समाई हम और तुम जो दुई कर्म जाना ता घटियम जम कर है बाना थाना अब कहते हैं गुरु कबीर साहब अपने गुरु की महिमा बताते हैं ये सतपुरुष ने बोला कि जाके तू ये नाम दिया करिए क्यों आकार रूप में आए आकार रूप में आए तो गुरु बने और गुरु और भगवान में अगर कोई अंतर मानता है तो उसके गट में कहते काल बस जाओगा हम तो हम और तुम को जो दोई कर जाना था गट यम बस कर है थाना उसमें फिर नो कहे काल का थाना हो जाएगा यानी पक्का स्थान गुरु और भगवान में अंतर नहीं माने कबीर गुरु मानुष कर जाने ते ते कहीं अंधे महादुखी संसार में अगयम के फंदे अब हम गुरु को भगवान नहीं मानते भगवान नारा माने फिर भी मंदिर में परमात्मा ढूंढे एक समय की बात है वीर सिंह बघेला नाम का काशी नवाब कबीर साहब से उपदेश ले लिया उपदेश ले लिया प्रथम श्रेणी का जैसे हम तीन टाइम में नाम देते हैं पहले टाइम का नाम जो होता है आपकी जो बिगड़ी हुई भक्ति इस तीन लोग किया सुचारू कराते हैं और साथ में सतलोक का भी एक नाम देते हैं इसमें सतपुरुष का तो ये आपकी पढ़ाई पूरी करवा कर फिर हम सतनाम देते हैं तो सतनाम जब वो लेने के लिए साहब से प्रार्थना करता है कहने लगा भाई ने बोले महाराज जी मेरा भी कृपा कर दो ये आगे का कोई राह बताओ सतनाम कहते हो आप वो भी मुझे कृपा करो अगर अधिकारी हो गया हूं तो कष्ट करो मालिक कृपा करो दाता कबीर साहब वीर सिंह के मकान पर पहुंचे हुए थे कबीर साहब कहने लगे भाई नाम तो दे दूंगा पर एक शर्त बहुत कड़ी है क्या कि इसमें एक सात हाथ का वस्त्र चाहिए मुझे सफेद बिल्कुल और सूचा समूचा कपड़ा सफेद कपड़ा महाराज जी थान के थान मंगवा दू क्योंकि काशी का राजा नवाब थे तो बोला ऐसा नहीं भाई वो तो ऐसे जूठे जाठे हाथ लग रहे होंगे महाराज ने तो एक लीला करनी थी उसकी चौन तोड़नी थी और दोया की तोड़नी थी एक की भी कोई ना कहने लगा एक आपकी नगरी में काशी में एक ब्राह्मणी रहती है और वो विधवा है उस बहन का नाम है चंद्र प्रभा और उस नगरी में उस कॉलोनी में रहती है वो कबीर साहब से नाम ले रखा था उस बहन ने लेकिन वो नादान भी गुरु को भगवान ना मानकर और जगन्नाथ के मंदिर में परमात्मा का ढूंढ रही थी कि वहां भगवान से जगन्नाथ के मंदिर में क्योंकि हम बेशक नाम ले लें पर यह पुराना खुर्चेंगे उतर दी कोई ना और कबीर साहब ने एक, एक तीर्थ दो शिकार करने थे कि यू नाम भी ले लेगा राजा है और मुझे एक अपनी दृष्टि से एक दुल्हा समझा है एक दो चमत्कार उनके हो लिए थे इसलिए नाम ले लिया था और जब तक हम गुरु को परमात्मा स्वरूप नहीं मानेंगे इतना बात कौन बने क्या हुआ कि भाई उसके पास एक धोती है और वो धोती उसने अपने भगवान जगन्नाथ की खातर तैयार कर रखी है उस लड़की ने और वो जो कपड़ा ला दे तो तुझे नाम दे दो बोला जी ठीक से और वो धोती कैसी है उस बहन ने अपने बगीचा बनाया अपने आंगन में और उसमें इसे उस आदमी ने भी नहीं बढ़ने देती उस बगीचे में उसमें बाड़ी बोई कपास बोई कपास बो के और गंगा जल मटका में सिर पर लाकर उन पौधों को सींच रखा नहा धोकर सोच कपड़े पहन कर लाती थी सूचे समुची और जब वो प्रफुल्लित हो गए बड़े बड़े उनका वो कपास लगी वो कपास चुनी नहा धोकर और फिर उसको आप पर पीना आप पर लोडिया आप पर काटा और फिर आप ही साड़ी बनाई उसने वह धोती बनाई है और वह धोती जगन्नाथ की खातर रख रखी है जब उसने तू ला दे तो तुझे सतनाम दे दो नो बोला जी ठीक से महाराज जी अभी गया राजा ने दो सेवक भेजे कि जाके कहो उस बहन को कि राजा आपसे दो बात करना चाहता है सेवक गए उसके नौकर सिपाही लड़की ने सोची राजा का भाई महारा गरीब आदमी का कौन सा मेल साथ कोई सह तक करड़ी करड़ाई पर भगवान बाजा की देवी इसके राज में थे देखी जाएगी लड़की ने दिशा घर पर जो था अपना बिछौना बिछा दिया और दूध गर्म करके ठंडा पीण जोगा कर लिया ध्यान लग रहे राजा खाट पर बैठ गए और वह दूध ले आई लो महाराज जी दूध पियो बड़े भाग जागे हमारे घर पर नगरी नरेश आ गए कहने लगा बहन दूध जब पीऊंगा तो मेरी एक बात मान लेगी अक्की बात जी अब तुझे ब्याज मेरा जीव कल्याण हो सा तो नाटिए मत ना एक मैंने एक वस्तु लानी तेरे पर ने बोले जी राजा का तो अधिकार पर जाके हर वस्तु पर होता है और मैं नाट कैसे सकती हूँ आपको बोला वे मन नाम लेना गुरु जी आता कबीर साहब का और उन्होंने कहा कि एक धोती चाहिए बहुत सुची समुची